Welcome everyone and thank you for joining us for the second quarter of financial year 19 result ended September 30, 2018 earnings call of GI Eco Products Limited. Please note that the result and presentation have already been uploaded on the exchanges and you can view the same on the website of the company that is www.gieco.com. To take us to, through the results and to answer your questions, we have today Mr. Bhavesh Kakadia, Chairman and Managing Director, and Mr. Vipul Vora, CFO of the company. This is the second such call being arranged by the company since its debut on the exchanges. At the cost of repetition, we will be starting this call with Bhavish by giving us a quick overview of the company's business model to help those who are joining us on the call for the first time. Bhavish Bhai will then update us on the key developments during the quarter. This will then be followed by Vipul Bhai running us through the financial performance of the company and followed by Q&A session. I would like to remind that everything said on this call that reflects any outlook for the future and which can be constituted as a forward-looking statement must be viewed in conjunction with uncertainties and the risk that we face. Please note that the management would be comfortable presenting the call and replying to investor queries in Hindi. Should Hindi not suit you, feel free to ask your queries in English and I shall help translate it for you. With that said, I would now turn over to Bhavesh Bhai to take over the proceedings. Over to you, sir. Hello. evening, everybody. Kakadiya Jiya eco product का मैनेजिंग uh, डायरेक्टर और chairman Jiya eco product basically biofuel manufacturer company है जो हम लोग uh, हमारे प्रोडक्ट बास्केट में दो टाइप के प्रोडक्ट है biomass biofuel briquette and second biofuel pellets biofuel briquettes substitute है जहाँ पे सॉलिड फ्यूल यूज होता है like like, uh, steam lignite firewood etcetera and pellet जो है कि सब्स्टिट्यूट है जहाँ पे लिक्विड और गैस फ्यूल यूज होता है लाइक एलपीजी पीएनजी एलडीओ फिर डीजल फर्नेस ऑयल वगैरह सब चीज का सब्सटीट्यूट है हमारे दोनों प्रोडक्ट 100 परसेंट इको फ्रेंडली है जिससे कोई भी पॉल्यूशन uh, या हेजाडेस्ट गैस रिलीज नहीं होता है और uh, ये दोनों प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल सेम है Agriculture waste and forest waste agriculture waste like cotton stalk groundnut shell cumin waste wheat straw rice husk etcetera etcetera and forest waste like uh, Juliflora, babul, desi, babul uh, and uh, many wild trees. Okay. तो बेसिकली uh, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके मेन यूजर्स लाइक इंडस्ट्रीज में जहां पे सॉलिड फ्यूल को हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो लोग हमारे यूजर्स में मेनली केमिकल यूनिट है टेक्सटाइल यूनिट है एंड uh, जहां पे liquid and gas fuel use होता है लाइक फूड इंडस्ट्रीज है फार्मा इंडस्ट्रीज और उसके सिवा क्रिकेट जो है वो ओनली फॉर इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कंपनी सेल कर रही है और पैलेट जो है उसमें दो सेगमेंट में हमारा सेलिंग हो रहा है एक इंडस्ट्रियल सेगमेंट है जहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि फूड इंडस्ट्रीज है फार्मा इंडस्ट्रीज है एंड दूसरा जो सेगमेंट है वो रिटेल इंडस्ट्रीज है रिटेल इन द सेंस की जहाँ पे बल्क में कुकिंग होता है लाइक नमकीन स्वीट्स बेकरी एंड कैंटीन वगैरह सब जगह पे ये पैलेट्स यूज होता है एज ए फ्यूल और ये सब चीज यूज करने से फिर वो इंडस्ट्रियल हो या रिटेल कस्टमर हो उनको काफी सारा सेविंग मिल रहा है फॉसिल फ्यूल की कंपैरिजन में और दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि भाई ये एकदम 100 परसेंट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है तो इनकी वजह से कोई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या वगैरह कोई अथॉरिटीज की ओर से जो हेडेक है वो नहीं रहता है और ये हाइजीनिक है इसके लिए इसको यूज करने से यूजर्स के जो भी इक्विपमेंट है उसको भी थोड़ा लॉन्ग लाइफ मिलता है तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं और यूज uh, करने वाले को और uh, जहाँ पे बल्क में यूज होता है इंडस्ट्रीज में वहां पे अगर कस्टमर चाहे तो वहां पे क्रेडिट कार्बन क्रेडिट भी क्लेम कर सकता है जो एक एडिशनल बेनिफिट है और कंपनी का बिजनेस हम लोग आठ साल से बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें year by year multiple growth हम लोग ले रहे हैं और स्टिल ना हो आज की डेट में भी हमारे पास जितनी भी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे more than two three time हमारे पास इंक्वायरीज है तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में एक चीज की इतनी बड़ी डिमांड है सभी लोग इनको यूज करना चाहते हैं पर मार्केट में अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है और हम लोग भी जितना हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म माने के पूरे साल का एग्रीमेंट करते हैं कि उनको कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है और इनके स्केड्यूल क्या है तो वो हिसाब से हम लोग उनके साथ डील करते हैं और पूरे साल में प्रोडक्ट का सेम रेट रहता है जब डील होती है वो टाइम से ही पूरा रेट फिक्स रहता है तो इसी वजह से बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ही कम है सेम रॉ मटेरियल में भी ऐसा है कि पूरे साल में एक ही रेट रहता है और रेट भी हम लोग कॉट करते हैं क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की उसके कंपैरिजन में जहां पे हमारा फैक्ट्री सेटअप है उसके सराउंडिंग एरिया में more than ten to eleven ten to fifteen time raw material की अवेबिलिटी है तो अपने पास कोई रॉ मटेरियल का ऐसा शॉर्टफॉल नहीं है कि भाई रेट uh, का इश्यूज अपने को फेस करना पड़े तो पूरा कुल मिला के मार्केट और रॉ मटेरियल सोर्सेस के हिसाब से आप देखा जाए तो बिजनेस पूरा लो फ्लक्चुएटेड है उसमें कोई भी तेजी या मंदी का कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इस तरीके से हम लोग बिजनेस करते हैं और हमारी दूसरी सब्सिडियरी कंपनी है जीआई को प्रोडक्ट की सब्सिडियरी कंपनी है जीआई को इंडिया लिमिटेड जो कि रिटेल का सेगमेंट है वो 100 परसेंट जीआई को इंडिया के थ्रू होता है और जीआई को इंडिया के पास एक काफी बड़ा मार्केट अवेलेबल है उन्होंने पूरा टीम तैयार किया है नेटवर्क तैयार किया है गुजरात के जो मेजर सिटीज है लाइक अहमदाबाद बड़ोड़ा सूरत राजकोट भावनगर और सभी जगह से जीआई uh, को इंडिया ने डेटा uh, कलेक्ट किया है कि कितने यूजर्स से more than one thousand users के डेटा जीआई को इंडिया के पास है कि वो लोग uh, जो रिटेल कस्टमर हैं कि वो अभी कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या आ रहा है और उनका जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है और अभी जीआई को इंडिया में मोर देन 150 के आसपास uh, कुछ बर्नर्स और स्टव्स इंस्टॉल किए हैं uh, जो एक uh, अब देखो कुछ तो रिसर्च एंड एनालिसिस बेस पे ये सब किया है different various type of application के ऊपर जैसे कि कोई स्वीट वाला है फिर कोई नमकीन वाला है या फिर कोई माइक्रो इंडस्ट्रीज है तो उनकी ओर से क्या रिव्यूज आ रहा है क्या प्रॉफिट क्या बेनिफिट मिल रहे हैं और क्या एरर आ रहे हैं वगैरह सब चीज का वहां पे आ, आ, ये स्टडी कर रहे हैं और फिर हमारा ऐसा टारगेट है कि आने वाले एक डेढ़ साल में आ, हम लोग पूरे गुजरात में एक हजार या पंद्रह सौ कस्टमर के वहां हमारे बर्नर्स वगैरह सब सेटअप करेंगे जीआई को इंडिया का मॉडल पूरा ऐसा है कि जिया जो भी ये यूजर्स है रिटेल यूजर्स है उनको ये पैलेट यूज करने के लिए कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा पैलेट को यूज करने के लिए फिर वो स्टव्स हो या बर्नर्स हो तो उसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इंस्टॉल करवाना पड़ता है तो जीआई को इंडिया है वो यूजर्स को एक डिपॉजिट के तौर पे एक अमाउंट लेके फिर फ्री में या ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करने के लिए देते हैं और उनके साथ में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बनता है तीन साल का और तीन साल तक वो यूजर्स को जो एक मिनिमम क्वांटिटी जो फिक्स की है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कंपनी और यूजर्स ने वो क्वांटिटी को कंज्यूम करना है और uh, अगर तीन साल के पहले यूजर्स uh, को कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है तो उसका जो डिपॉजिट है उसको रिफंड नहीं मिलेगा और इंस्ट्रूमेंट जो है वो कंपनी वापस ले लेगी तो ये सब एक्टिविटीज करने से कंपनी को बेनिफिट ये मिलता है कि पूरा मार्केट स्प्रेड होके सिक्योर बन जाता है कि जितने भी कस्टमर नए क्रिएट होते हैं वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के साथ जुड़े रहते हैं और रिटेल में प्रॉफिट भी more than industrial I think two time है तो वहां पे प्रॉफिट का रेशियो भी अट्रेक्टिव है मार्केट भी पूरा स्प्रेड हो जाता है तो अपना कोई भी आ, ऐसा कस्टमर नहीं रहेगा कि जहाँ पे अपना बड़ा डाइल्यूशन हो जाएगी अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे की उसमें से एक बड़ा पोर्शन किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है वो इश्यू भी नहीं आएगा और तीसरा बेनिफिट ऐसा है कि वहाँ पे हम लोग को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम बैठेगी क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट पीरियड थोड़ा कम है तो ये सब बेनिफिट्स रिटेल uh, में मिलते हैं और जीआई को इंडिया जो हमारी सब्सिडियरी है वो पूरा यही एक्टिविटी कर रही है दूसरा अपडेट ऐसा है कि जीआई को प्रोडक्ट का uh, uh, एक दूसरा प्लांट चालू करने जा रहा है गांधीधाम में जो अभी शॉर्ट पीरियड में रनिंग हो जाएगा मशीनरी वगैरह सब जगह पे मशीनरी सब चीज आ गई है और इंस्टॉलेशन का वर्क प्रोसेस में है तो आई थिंक दिसंबर के एंड या जनवरी दिसंबर के एंड में प्लांट रनिंग uh, uh, हो जाने की पूरे पूरी पॉसिबिलिटी है और uh, वहां पे जैसे ही प्लांट रनिंग होगा तो काफी जो हमारे पास इंक्वायरीज वगैरह सब है तो उसको भी हम लोग फुलफिल कर पाएंगे और वहाँ पे भी हम लोग पैलेट की फैसिलिटीज सेट कर रहे हैं वहाँ पे ब्रिकेट हम लोग नहीं कर रहे पैलेट की ही फैसिलिटीज सेट कर रहे हैं और लास्ट क्वार्टर में हम लोग ने हमारे प्रोडक्ट बास्केट के अंदर एक दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया है जो प्रोसेस एग्रीकल्चर वेस्ट है तो काफी इंडस्ट्रीज ऐसी है कि जहाँ पे वो लोग को लो डेंसिटी वाला जो फ्यूल है लाइक जो प्रोसेस एग्रीकल्चर वेस्ट है उनकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट रहती है लाइक सीमेंट्स कंपनी वगैरह सब जगह पे तो हम लोग ने वहां पे एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हम लोग ने एक कंसाइनमेंट भेजा था और उनके डेटाज वगैरह सब लिए तो उन लोग को भी काफी बेनिफिट मिल रहा है और एक क्वार्टर में हम लोग ने कमर्शियली बेसिस पे काफी अच्छा बिजनेस प्रोसेस एग्रीकल्चर वेस्ट में भी किया है और कंपनी को ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रोडक्ट में भी जितना हम लोग को पैलेट और ब्रिकेट में सक्सेसफुल मिली है उतना ही सक्सेसफुल ये प्रोडक्ट भी रहेगा तो काफी सारे ऑप्शन है कंपनी के पास में प्रोसेस एग्रीकल्चर वेस्ट के क्लाइंट है ब्रिकेट के क्लाइंट है पैलेट में इंडस्ट्रियल क्लाइंट है रिटेल क्लाइंट है और दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पैलेट को यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वहां पे काफी बड़ी डिमांड है पर अभी हम लोग जो ये साल है ये साल में हम लोग पूरा लोकल जो मार्केट है वहां पे जो हम लोग ने मेकेनिज्म सेट किया है कि ये बर्नर वगैरह सब चीज का उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर रहे हैं और जैसे ही हमारा गांधीधाम वाला प्लांट एक बार सेटअप हो जाए उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में हम लोग एक्सपोर्ट के बारे में भी सोच सकते हैं तो कुल मिला के कंपनी के पास में अभी काफी हेल्दी बिजनेस है और सभी जगह से पॉजिटिव रिव्यूज है कि रॉ मटेरियल साइड भी काफी रिच है कस्टमर बेसिस भी काफी अच्छा है और प्रोडक्ट का फ्यूचर भी अच्छा है और काफी सब शेयर होल्डर्स और वगैरह सबके ओर से हम लोग को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और उसके कारण ही कंपनी दिन ब दिन ग्रो करती रहती है ईयर बाय ईयर रिजल्ट्स आप लोग शायद देखते होंगे तो रिजल्ट्स भी काफी इम्प्रूवमेंट वाले मिल रहे हैं तो ऐसा बिजनेस पूरा मॉडल है और हमारे जो सीएफओ है मिस्टर विपुल वोरा वो भी राइट नाउ हमारे साथ जुड़े हुए कॉन्फ्रेंस कॉल में तो मैं उनको अभी कॉल पास ऑन करूंगा जो आपको ये लास्ट क्वार्टर का जो फाइनेंशियल है वो आपको थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद में बिजनेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन या आंसर होगा तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे तो मैं विपुल जी को कॉल पास कर रहा हूँ Vipul ji please explain financial hello everyone good evening मेरा नाम विपुल वोरा है और मैं जिया इको प्रोडक्ट लिमिटेड और जिया इको इंडिया लिमिटेड का सीएफओ हूं सबसे पहले मैं आपको हमारी कंपनी के ए क्वार्टर के स्टैंड एलोन रिजल्ट दे रहा हूं ये क्वार्टर में कंपनी ने कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 43.7 सीआर कंपनी का डेटा है 60.55 सीआर कंपनी का पेट है सी सीआर और कंपनी का स्टैंड एलोन एपीएस है फोर सेवेंटी थ्री कंपनी का हाफ ईयर रिजल्ट मैं अभी आपको दे रहा हूँ कंपनी का हाफ ईयर रिजल्ट है total eighty eight zero eighty point thirty four C R company का हाफ ईयर एबिटा है twelve point eighty three C R company का हाफ ईयर पेड है one point eighty nine C R और कंपनी का हाफ ईयर एपीएस है ninety nine point twenty six C R मेरी कंपनी के साथ जीआई को प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ कंपनी है जीआई को इंडिया लिमिटेड जो 100 परसेंट सब्सिडरी है तो उसके हिसाब से मैं अभी आपको दे रहा हूँ वो है consolidated financial reserve for quarter two financial 19 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है 53.46 सीआर कंसोलिडेटेड इबिटा है 7.96 CR six CR consolidated PAT है सिक्स सिक्स सीआर मेरा कंसोलिडेटेड पेट मार्जिन 12.9 परसेंट रहा है और फाइनेंस ईयर का कंसोलिडेटेड अनाउंसमेंट ईपीएस है एनुअलाइज ईपीएस e है 21.96 ईयर का अभी मैं आपको कंसोलिडेटेड हाईलाइट फॉर पूरा ये हाफ ईयर का दे रहा हूँ हाफ ईयर का मेरा स्टैंड एलोन कंसोलिडेटेड हाईलाइट है रेवेन्यू सी आर इबिटा है 15.19 सीआर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 12.7 आर और ईपीएस स्टैम्प ईपीएस है मेरा दस पॉइंट सेवेंटी वन सीआर मुझे ये आपको बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोगों ने अपनी जो क्रेडिट साइकिल है वो 140 डेज 140 डेज पर लाकर सीमित करी है और अभी हम लोग उसमें और ज्यादा भी मेहनत कर रहे हैं और और भी ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाएगी तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार भी जब हम मिलेंगे तो इससे भी कम उम्र का क्रेडिट साइकिल हो जाएगी अभी हम लोग बारी बारी से क्वेश्चनरी शुरू करेंगे thank you very much thank you everyone Yes, sir. Should we open it for Q&A? Yes, yeah, yeah, yes, ma'am. Yes, question and answer. Thank you very much. Thank you, ma'am. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handset mode while asking your question. Anyone who would like to ask a question, please press star and one at this time. The first question is from the line of Ritesh Vora from Insido. Please go ahead. Hi, sir. Uh, congratulations on good sets of number. Tell us uh, why our cash from operations is negative over last two, three years. Sir, please repeat. Why our cash from operations is negative over last two, three years? Because, because we are a substitute of all हम लोग कॉल और वुड का सब्सिट्यूट सब्सिट्यूट करते हैं और कॉल और वुड में बहुत लंबी उधारी चलती है वहां पर डेबिट बहुत लंबा चलता है सर तो उसके कंपैरिजन में हमारा डेबिट थोड़ा ज्यादा हमें देना पड़ा था मार्केट में एक बार हमारी नई प्रोडक्ट और सब प्रोडक्ट लाने के लिए तो उसके लिए हमें थोड़ा डेप्टर्स बहुत ज्यादा रह गया था लास्ट टाइम से लाइफ टाइम भी रह गया था अभी हम लोग वो रिकवर कर रहे हैं तो because of long debtorsness our cash flow should be some negative but now it should be a recover अब अभी हम लोग बहुत स्पीड से उसको रिकवर कर रहे हैं और अगले एक साल में वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा sir And uh, you have shown a consistent uh, revenue growth over last four, five years. Yes, sir. So how you are able to manage? Are your capacity is fully utilized or there is still some capacity left for? नहीं नहीं नहीं यस सर अवर 90 से 95 परसेंट कैपेसिटी अभी यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग और इसीलिए हम लोग दूसरा प्लांट अभी शुरू कर रहे हैं गांधी धाम में क्योंकि हमारे पास जितने ऑर्डर्स हैं उससे हमारे पास जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे तकरीबन दो से तीन गुना ज्यादा हमारे पास ऑर्डर पेंडिंग है अभी तो उसकी वजह से ही हम लोग अभी दूसरा प्लांट गांधीधाम में शुरू कर रहे हैं तो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और उसमें भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि पहले से ही जितनी ज्यादा हो सके उतनी कैपेसिटी यूटिलाइज करें So, ye how do you define your capacity? First plant as well as second plant, how do you define the capacity in tonnage or, or what? The tonnage, sorry, in tonnage. So what is the present tonnage? The present tonnage is uh, uh, uh per day 140, uh, 240 tons both, pellets and briquettes. 240 tons per day? 240 tons both, briquettes and pellets. Per day you are saying? Yes, yeah. sir. Sir, uh, uh, annual capacity approx 1.80 lakhs uh, ton each briquette and pellet. और जो नया प्लांट आ रहा है सर वो भी सेम कैपेसिटी का प्रोजेक्ट का आ रहा है दोनों की कैपेसिटी सेम रहेगी so you mean to say you serve approximately 20 two four trucks every day from the factory yes sir जी नहीं नहीं sir we we use sir sir eight lakhs एक लाख अस्सी हजार ton per annum per annum present capacity you set two forty ton per day right so two forty ton means you have twenty two twenty four trucks every day leaving your come your factory premise definitely okay and that capacity will go how much in the when the second plant gas commission right में सेम कैपेसिटी एंड उसके बाद में हम लोग वहां पे इंक्रीज करेंगे अभी हम लोग जितना भी कैपेसिटी एग्जिस्टिंग प्लांट में है पैलेट्स का उतनी कैपेसिटी का प्लांट वहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके बाद में हम लोग उसको इंक्रीज करेंगे And my last question is, how do you source your raw material? Where do you source? Uh, raw material जो हमारा प्लांट है, वहाँ पे हम लोग ने 52 विलेजेस है हमारे uh, वल्बीपुर तालुका के उसके जितने भी गौचर लैंड है वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट वेस्ट जनरेट होता है वो हम लोग यूज कर रहे हैं with agreement via central government हमारे पास 52 विलेजेस के ग्राम पंचायत के साथ में एग्रीमेंट है और उसके बाद में जो हमारा दूसरा रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर वेस्ट वो हम लोग ने पूरे ये वल्बीपुर uh, तालुका के जितने भी विलेजेस है वहां पे हम लोग ने पूरा कलेक्शन uh, एजेंट का हम लोग ने एक वेरी वेल नेटवर्क क्रिएट किया है ये कलेक्शन एजेंट्स जो हैं रॉ मटेरियल को प्रोक्योरमेंट करते हैं उसके ऊपर जो भी प्रोसेस करना है वो प्रोसेस करके हम लोग को सप्लाई करते हैं और जो गांधीधाम में हमारा नया प्लांट शुरू होने वाला है तो वहां पे भी काफी फॉरेस्ट वेस्ट वगैरह सब चीज के साथ सोर्सेस वहां पे रिच सोर्सेस है क्योंकि वहां पे जो डेजर्ट है उसको आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने वहां पे देसी बबूल का प्लांटेशन किया था जो अभी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अभी उसको निकालने के लिए सब गवर्नमेंट एक्टिविटीज चल रही है तो वो एरिया भी काफी रिच रिसोर्सेज uh, से भरा हुआ है फॉरेस्ट uh, वेस्ट के और उसके सिवा गांधीधाम जो पूरा टिम्बर uh, इंडस्ट्रीज का पूरा हब है पूरे इंडिया में वहां पे वुड का प्रोसेस पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है तो वहां पे लॉट्स ऑफ टिम्बर मिल है तो उनका वेस्ट जो है लाइक सोडस्ट है एंड जो वुड्स है वो सब इजीली और ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल है तो ये सब चीज का हम लोग ने स्टडी करने के बाद में वो जो जगह है उसको आइडेंटिफाई किया है और वहां पे हम लोग सेटअप कर रहे हैं alright sir wish you all the best thank you thank you thank you very much thank you the next question is from the line of Pratik Poddar from Akela investments please go ahead sir हमारी पैलेट की कितनी कैपेसिटी है अभी sir out of hundred and eighty thousand ton अरे सर हमारी पहले की कितनी कैपेसिटी है आपका एटी थाउजेंड था हेलो टन हेलो विवेक मैं सुन रही नहीं पा रहा हूँ आपको सुनाई दे रहे हैं हाँ सर मुझे सुनाई दे रहा है आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर हाँ सर मैं बोल रहा हूँ आपकी पैलेट की कैपेसिटी अभी 180,000 टन है और ब्रिकेट की भी 180,000 टन है ऐसे मान लीजिए yes sir each both both capacity eighty And sir, Gandhi Dham, uh, jo aap, uh, new capacity December end में आएगी, that is also 180,000 टन? अभी राइट नाउ ऐसा होगा, 180 टन का होगा और उसके बाद में हम लोग उनको धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या है कि जो हम लोग फुल uh, कैपेसिटी पे जो करने वाले हैं उसमें हम लोग पार्ट में इंस्टॉलेशन uh, कर रहे हैं अभी पार्ट मशीनरी आ गई है उसका इंस्टॉलेशन हो रहा है वो रनिंग हो जाएगा उसके बाद में तुरंत ही वापिस दूसरा मशीन भी ऑर्डर किया है तो टोटल मिला के तो यहां से जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उससे बड़ी कैपेसिटी होगी पर वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होगा पर ईयर एंड के सा, साथ में पूरा जो भी हम लोग ने कैपेसिटी बताया है वो कैपेसिटी भी बन जाएगा और यूटिलाइज भी हो जाएगा सही फेयर पॉइंट सर तो सर मतलब मैं ये मानूं कि अगर आ, मतलब मार्च 2019 में आपकी capacity of pellet will be three lakh sixty thousand ton three lakh sixty thousand ton का इंस्टॉल कैपेसिटी वो टाइम पे नहीं बनेगा मार्च में नहीं बनेगा पर उसके बाद में हमारा प्लानिंग ऐसा है कि हम लोग उतनी कैपेसिटी वाला वहां पे प्लांट सेटअप करेंगे नहीं तो ये गांधीधाम का सर हेलो हाँ सर गांधीधाम आप स्केल कैसे करेंगे मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी एट पीक कितनी होगी गांधीधाम से ये आप समझो मेरी बात हम लोग ने जो वहाँ पे हम लोग कैपेक्स लगाने वाले हैं ना वो कैपेक्स के हिसाब से वहां पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो होगी three lakh eighty three point six lakh ton की एनुअली पर अभी मार्च एंडेड है ना उसमें उतना इंस्टॉलेशन नहीं होगा मार्च के बाद में दूसरा इंस्टॉलेशन होगा अभी जितना इंस्टॉलेशन होगा उसको हम लोग रनिंग कर देंगे और साइड में दूसरा भी इंस्टॉलेशन चालू रहेगा तो पूरी जो कैपेसिटी है उसके इंस्टॉलेशन तक हम लोग प्रोडक्शन की वेट नहीं करेंगे अभी जितना इंस्टॉलेशन होगा वो स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद में मार्च के बाद में दूसरा भी हमारा जो इंस्टॉलेशन होगा वो भी हम लोग पैरेलली स्टार्ट कर देंगे अच्छा तो आपकी फाइनल हाँ, तो- गांधीधाम कैपेसिटी कितनी रीच हो जाएगी सर फाइनली हाँ, तो गांधीधाम मतलब में मैंने जैसे बताया वो हिसाब से थ्री लैख से सिक्सटी थाउजेंड टन ही होगा एनुअल ओनली uh, गांधीधाम की इंक्लूडिंग योर करंट कैपेसिटी नहीं only for Gandhidham okay Okay, so will will three sixty and में एक डेढ़ साल में से ब्रॉडली एक साल में और एक लाख अस्सी हजार की एग्जिस्टिंग e-, है तो पांच लाख चालीस हजार हो जाएगी total okay very good sir sir second is I this want आपको कांग्रेचुलेट करना था you have actually reduce your working capital as you had suggested in the last quarter so congratulation for that thank you thank you Pratik ji और मैं आपको एक दूसरा भी विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही हमारा गांधीधाम वाला प्लांट होगा तो उसमें भी हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं रिटेल के ऊपर तो इसकी वजह से हमारी जो भी वर्किंग कैपिटल पास टाइम में हम लोग को थोड़ा जो डेटर्स का जो दिख रहा था तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट मिलेगा आ, हम लोग ने एक क्वार्टर में भी किया है और नेक्स्ट क्वार्टर में भी इससे अच्छा रिजल्ट देंगे और नेक्स्ट ईयर में तो एकदम आइकोनिक मॉडल हम लोग बना देंगे चलिए sir all the best for that sir आपसे एक चिया इको प्रोडक्ट पे थोड़ा सा पूछना था ऑन द सब्सिडरी सर उसमें हमने जैसे डेढ़ सौ बर्नर इंस्टॉल किए हैं जैसे आप अभी बोल रहे थे राइट सर इसमें एवरीथिंग इज ऑन बेसिकली मतलब मुझे ये समझना था जैसे प्रेस रिलीज में आपने एक जगह ब्रास के बारे में दिया है कि ब्रास एप्लीकेशन के लिए फॉर ब्रास इंडस्ट्री आपने बर्नर इंस्टॉल किए हैं सर उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट इज टू सप्लाई पहले ओनली या हमने उन्हें स्टीम कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि हम आपको दो रूपये पे स्टीम देंगे ऐसा है या इट इज ओनली पैलेट नहीं नहीं नहीं अभी जो जामनगर में ब्रास इंडस्ट्रीज में हम लोग ने सेटअप किया है एक डेमोस्ट्रेशन के तौर पे एक बर्नर सेट किया है और एक दो दिन पहले ही वहां से हम लोग को काफी ऑर्डर्स वगैरह सब मिलने से ये सब लाइजनिंग चल रहा है तो वहां पे हम लोग ने एक डेमोस्ट्रेशन किया था जो ब्रास पार्ट इंडस्ट्रीज है लाइक ये पित्तल वगैरह सब चीज है और ये अपने बाथरूम में जो सैनिटरी सब चल रहे शावर वगैरह सब तो वो सब चीज का मैन्युफैक्चरिंग वहां पे चल रहा है और वो बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रीज है जामनगर में तो आज हम लोग आज तक किसी ने वहां पे पैलेट का यूज नहीं किया था तो हम लोग ने फर्स्ट टाइम वहां पे एक डेमोस्ट्रेशन दिया और उन लोग को काफी बेनिफिट वाला वहां पे रिजल्ट मिला और वहां पे एक इंडस्ट्रीज जहां पे हम लोग ने डेमोस्ट्रेशन दिया था उनको अकेले को 15 से 20 बर्नर्स की रिक्वायरमेंट है और इस तरीके की एक भट्टी में एक बर्नर लगेगा तो उसके वहां पंद्रह से बीस भट्टी लगी हुई है और आप पूरे जामनगर के ब्रास इंडस्ट्रीज को कैलकुलेट करो तो वहां पे 600 से ज्यादा भट्टिया इंस्टॉल्ड है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और हमारा मटेरियल भी वहां पे काफी अच्छा कंज्यूम हो सकता है और वहां पे हम लोग को रिटेल सेगमेंट वाले रेट में कि जब में जिसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है तो वो सब चीज का एक बहुत ही बड़ा हम लोग को वो सेगमेंट मिला है सर आपके अभी कितने इंक्वायरीज आ रहे हैं बर्नर के लिए क्योंकि सर ये ब्रांच में तो लगाएगा तो सब लगाएंगे मतलब इंक्वायरीज हाँ, में तो ऐसा है जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग ने जो पहले सौ से डेढ़ सौ जो बर्नर्स इंस्टॉल किए हैं वो हम लोग ने अलग अलग एप्लीकेशन में किए थे लाइक कोई नमकीन वाला है तो फिर कोई वेफर वाला है फिर स्वीट वाला है या फिर मिल्क बॉइलिंग कर रहा है तो उनके वहां से रिपीट ऑर्डर मिलता है या तो फिर उनके रेफरेंस के रेफरेंस से सेम बिजनेस के अंदर जो दूसरे प्लेयर है वहां से भी हम लोग को ऑर्डर मिलता है तो राइट नाउ हमारे पास ऑर्डर्स तो काफी सारे हैं लगभग 700 से हजार ऑर्डर्स तो हम लोग के पास इंक्वायरीज ऐसी जो हम लोग ने स्टडी और सर्वे करवाए थे वो सभी लोग इंटरेस्टेड है पर जैसे जैसे उसमें हम लोग हमारा जो कैपेक्स लगने वाला है उसका भी हम लोग जैसे प्लानिंग कर रहे हैं इक्विटी से या फिर डेट लेके जो भी हम लोग अभी मैनेजमेंट उसके बारे में सोच रहा है और थोड़ा बहुत ग्रो भी हम लोग कर रहे हैं नए नए बर्नर और स्टोव इंस्टॉलेशन का भी काम चालू है पर जैसे ही हमारा कैपेक्स का प्लानिंग हो जाएगा उसके बाद में वहां पे फुल फ्लेज में सब जगह पे सेटअप होगा ओके okay? जी हमें सर आप हजार बर्नर इंस्टॉल करेंगे उसका बीस करोड़ का खर्चा है तो हम फंड रेजिंग क्यों कर रहे हैं सर जिया इको में आपने एक बीच में एक्सचेंज पे डाला था कि आप फंड रेजिंग करने वाले हैं जिया इको के लिए क्या हम लोग अभी अभी ऐसा सोच रहे हैं कि जिया इको इंडिया जो है उसमें क्या पॉसिबिलिटी है फंड रेज करने के लिए डेट भी ले सकते हैं या इक्विटी में से इक्विटी में से इक्विटी मार्केट में से भी ले सकते हैं पर अभी कुछ हमारा प्लानिंग फिक्स नहीं हुआ है कि कहाँ से हम लोग फंडिंग करेंगे और वो कैपेक्स के बारे में अभी मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहा है Thank you. I would request Mr. Fodder to come back in queue for follow-up question. The next question is from the line of Ashutosh Garud from Avendus Wealth Management. Please go ahead. Hello hello hello हाँ जी आ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट के लिए बधाई हो आपको thank you very much thank you very much जो मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप अभी कह रहे हैं कि आप डेढ़ दो साल में अपना कैपेसिटी ऑलमोस्ट तीन गुना कर दोगे आप जो बोल रहे हैं और आपका ऑर्डर बुक भी आपने बताया कि एक दो साल का ऑलरेडी बुक है ऐसा डिमांड सिनेरियो है आपके प्रोडक्ट के लिए तो आप कितना ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके सेल्स और मे बी अर्निंग में भी नेक्स्ट दो तीन साल के लिए रिजल्ट आपने देखा होगा तो वो तो हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लांट है वो तो फुल्ली यूटिलाइज चल रहा है और इस प्लांट हम लोग जो इंस्टॉल करने वाले हैं तो वहां पे भी जो भी प्रोडक्शन होगा तो वो प्रोडक्शन के लिए जो भी प्रोडक्ट मार्केट चाहिए वो हमारे पास रेडी है तो अभी हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इस साल का जितना भी हाफ ईयर का हमारा रेवेन्यू बना है उससे पूरे साल का अगर कैलकुलेट करें तो मोर देन टू टाइम तो इजीली अवेलेबल इजीली अचीव हम लोग कर लेंगे और उसके साथ में हम लोग को आई uh, थिंक uh, दो से तीन मंथ हमारे गांधीधाम वाले प्लांट के भी मिलेंगे और उसमें हम ऐसा सोच रहे कि जैसे प्लांट रनिंग होगा तो ये साल में हम लोग 30 परसेंट यूटिलाइज कैपेसिटी के ऊपर से हम लोग वहां पे प्रोडक्शन ले पाएंगे अभी ये साल के एंड तक उसके बाद में हमारा प्लानिंग ऐसा है कि फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग 50 या 60 परसेंट अचीव कर लेंगे और सितंबर तक हम लोग उसमें भी जो गांधीधाम वाला प्लांट है उसको भी 90 या 95 परसेंट तक हम लोग अचीव कर लेंगे और ये सबको मिला के नेक्स्ट ईयर अगर आप टॉप लाइन कंसीडर करें तो 300 करोड़ के आसपास हो सकता है डिपेंड ऑन कि रिटेल मार्केट में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है उसके ऊपर रिटेल मार्केट में ऐसा नहीं है कि हमारे पास मार, आ, मार्केट नहीं है कि ये सब चीज और वहां पे हम लोग को जो स्टव्स और बर्नर इंस्टॉल करने हैं उसके पीछे कितना टाइम किलिंग हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है हमारे पास इंडस्ट्रियल मार्केट तो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा रेडी पड़ा हुआ है पर हम लोग फोकस कर रहे हैं रिटेल सेगमेंट के ऊपर तो उसमें कितना मैक्सिमम हम लोग वहां पर कंज्यूम कर, कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड रहेगा टॉप लाइन और बॉटम लाइन तो ये तीस परसेंट जो बोल रहे हैं ये वॉल्यूम ग्रोथ बोल रहे हैं आप volume okay okay thank you thank you and all thank you very much sir Thank you. The next question is from the line of Lavita Lasrado from Attila Investments. Please go ahead. Hello. Hello, ma'am. या सर uh, मुझे बेटा ब्रेकअप चाहिए पैलेट्स और ब्रिकेट का बेटा माल या में चाहिए आपको या फिर अमाउंट uh, वाइज uh, चाहिए amount EBITDA wise per ton wise और अमाउंट देगा तो भी चलेगा एंड प्लीज अगर आप मुझे अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल आईडी दे सका तो मैं आपको मेल कर दूंगा वो सब चीज हाँ ठीक है हाँ, ठीक है टीकम तो आप विकास जी आप मेरा मोबाइल नंबर है nine three two eight two eight six nine six nine okay okay आप मुझे प्लीज मेल अपना मेल आईडी भेज दो मैं आपको पूरी डिटेल्स मेल कर दूंगा मैम हाँ thank you thank you very much ma'am Thank you. The next question is from the line of Hardik Patel from HSBC. Please go ahead. Hello. Hello, sir. Hello, sir. Congratulations for great result. I was uh, expecting this. Uh, मैं भी अहमदाबाद से हूँ uh, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पेएबल डेज पे या सो पेएबल डेज मतलब पेएबल टोटल अमाउंट डिक्रीज हुई है uh, as, ये बैलेंस शीट को देख के एंड uh, हमारे पास कैश भी 55 लाख ही है तो आपको लगता है कोई लिक्विडिटी मैनेजमेंट में इश्यू हो सकता है प्लीज रिपीट करेंगे एक बार ओवरऑल uh, जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है हमारा रिसीवेबल डेज काफी हाई है इन्वेंटरी डेज जो डिक्रीज हुआ है इम्प्रूव हुआ है फिर भी काफी हाई है पेबल डेज के हिसाब से एंड इन्वेंटरी डेज भी हमारा वही लाइन uh, uh पे चल रहा है और हमारे पास कैश जो है वो 55 लैक्स अराउंड है कुछ कंपनी में या तो आपको लगता है तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट में इश्यू हो सकता है इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स और अयर ईयर नहीं मैम नहीं तो नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अप्रोच कर दिया है बैंक को ज्यादा वर्किंग कैपिटल के लिए और okay. दूसरी बात सर अभी भी हमारा जो लेटर्स लिस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और बहुत ही स्पीडी रिकवरी हो रही है तो हमें यह नहीं लगता है कि हमारे नए तंत्र में कोई लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम आएगी सर मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो डेटर्स पीरियड जो है वो इंक्रीज हुए हैं तो पास्ट हम्म। में हमारे इससे भी ज्यादा डेटर्स थे फिर भी हम लोग को वो टाइम पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता तो हम लोग फिर ऐसा डेम श्योर है कि हम लोग को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा और बात रही अपनी ये गांधीधाम फैसिलिटीज की तो हम्म, उसकी वर्किंग हम्म। कैपिटल के लिए ऑलरेडी हम लोग ने बैंक को अप्रोच किया है और वहां से बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं और आई थिंक हम्म। वो प्लांट रनिंग होने से पहले वहां पे हम लोग को जो हमारी बैंक से वर्किंग कैपिटल हम लोग यूज करें वो इंक्रीज हो जाएगी ओके थैंक यू मेरा सेकंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग कम्पिटेटिव स्टैंड सो हमारा return on equity return on capital investment वो काफी हाई है मतलब बिजनेस बहुत सही से ग्रो भी कर रहा है एंड रिटर्न रिटर्न रेशियोज भी काफी सही है तो आपको क्या लगता है कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ यानी कि दूसरे बिजनेस क्यों नहीं आना चाहेंगे इसमें और हमारी मोड क्या है मतलब और हम कैसे बेटर है एंड वो हम हमारे मार्जिन फ्यूचर में कैसे मेंटेन कर पाएंगे अगर कोई कंपटीटर आ गए तो इसमें sir good question from you जो आपने जो थ्रॉट बताया वो डेफिनेटली है बिजनेस में अट्रैक्शन uh, काफी सारे है और uh, दूसरा टेक्नोलॉजी भी कोई ऐसी uh, मतलब रॉकेट uh, साइंस नहीं है डेफिनेटली तो हम लोग भी ये थ्रॉट को फील uh, कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिशन आएगा उसकी वजह से ही हम लोग ने जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग रिटेल सेगमेंट के अंदर रिटेल जो यूजर्स है उसके साथ में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करके वहां पे हम लोग हमारा कैपेक्स भी वहां पे लगा रहे हैं एज ए बर्नर और स्टोव के आ, तो ये सब हम लोग ने ये आगे की जो प्लानिंग है कि बाई चांस फ्यूचर में कोई कंपटीशन आए तो अपने को मिनिमम हाँ। इफेक्ट पड़े इसके लिए हम लोग ये सब पूरा नेटवर्क और ये बिजनेस मॉडल सेट किया है और दूसरी एक बात ऐसी भी है सर कि इंडस्ट्रीज हाँ। में जितने भी लोग अभी कॉल या वगैरह सब चीज यूज कर रहे हैं उस सभी लोगों को बायोफ्यूल यूज करना है और मार्केट में अवेबिलिटी नहीं है वो लोग आज की डेट में भी हमारे पास जो भी इंक्वायरीज वगैरह सब आती है जैसे मैंने आपको बताया था तो लोग हम हम लोग से एक ही श्योरिटी मांगते हैं कि भाई हम हमारे जो इक्विपमेंट है उसमें चेंज कर देंगे बायोफ्यूल यूज करने के लिए तो सामने आपको भी कमिटमेंट देना होगा कि नॉन स्टॉप आप हम लोग को कंटिन्यू सप्लाई देंगे तो हम्म। इसी की वजह से हम लोग क्या है कि हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम लोग किसी के साथ भी टाइप नहीं कर रहे तो कहने हम्म। का मतलब यह है कि मार्केट में डिमांड तो काफी अच्छी है और काफी यूजर्स है इनके अगर अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे अगर 10 या 20 गुना कोई पूरा मार्केट में कंपटीशन आ जाए तो भी हाँ। खाली गुजरात में ही इतनी रिक्वायरमेंट है कि वो फुलफिल हो जाएगी आ, क्योंकि काफी सारे जो आ, केमिकल यूनिट्स अंकलेश्वर वापी वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सूरत में है सिरामिक इंडस्ट्रीज मोरबी में है तो काफी ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है कि जहां पे ह्यूज क्वांटिटी में बायोफ्यूल की रिक्वायरमेंट है पर मार्केट में अभी अवेबिलिटी नहीं है इसके लिए वो लोग फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं तो एक थ्रॉट तो है कि कंपटीशन आएगा पर हम ये सब चीज के लिए पूरा कैपेबल भी है कि भाई आगे हम लोग को ये प्रॉब्लम आए तो हम लोग क्या इसके ऊपर एक्शन ले तो हम लोग ने बिजनेस मॉडल ही अभी से हम लोग ऐसा सेट कर रहे कि जब भी कंपटीशन आए तो मिनिमम इफेक्ट पड़े हम लोग को राइट right. uh, और last question sir regarding the boiler product for the steam generation you mentioned in your media release yesterday हाँ? so उसपे मतलब कहाँ तक हम पहुँचे हैं और किन किन क्लाइंट मतलब क्लाइंट को हमने ऑलरेडी सेल किया है या we are in just initial phase only उसके बारे में बताएंगे अभी ये स्टीम जनरेशन का प्रोग्राम है पूरा वो आर एन डी बेसिस पे है और हम लोग ने काफी उसमें आर एन डी कर चुके हैं और जहाँ पे हम लोग ने आर एन डी किया है वहाँ पे हम लोग को काफी अट्रैक्टिव रिजल्ट्स भी मिले हैं जैसे कि हमारे इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं काफी सारे लोग कि जो हमारे पैलेट्स यूज कर रहे हैं तो वहां पे उनको स्टीम की कॉस्ट क्या आ रही है क्या उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनके रिव्यूज वगैरह सब चीज हम लोग ने देखे है और हम लोग ने एक बॉयलर कंपनी के साथ में भी हम लोग थोड़ा ऐसे टच में है और वहां से भी हम लोग पूरा हमारे जो जो एप्लीकेशन हमने आइडेंटिफाई की है कि जहां पे हम लोग उनको स्टीम सेल कर सकते हैं तो उनको प्रॉपर जो डिजाइन चाहिए बॉयलर की उसके बारे में हम लोग बॉयलर कंपनी के साथ में हम लोग टच में हैं और वेरी सुन हम लोग एक जगह पे एज ए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और वहां पे जैसे ही सब डेटा वगैरह सब हम लोग के पास आ जाएंगे उसके बाद में उनके ऊपर हम लोग कॉमर्शियल ऑपरेशन भी स्टार्ट कर देंगे जैसे हम लोग ने बर्नर्स में किए थे okay hmm, hmm. okay. Okay, sir. Thank you so much and all the best for future. Thank, Thank you very much. Thank you. The next question is from the line of Ashish Agarwal from Agarwal and Company. Please go ahead. Good evening, sir. Good evening. Congratulations uh, on the fantastic results. Okay, thank you. Uh, कुछ सवाल हैं पहला सवाल ये जो आप कह रहे हैं रिटेल सेगमेंट में अपनी कैपेक्स आप लगा रहे हैं अभी ये कुछ बैलेंस शीट में आना शुरू हुआ है क्या हाँ अभी आगे गए ना बैलेंस शीट में जीआई को इंडिया जो है कंसोलिडेट जो है सब्सिडियरी हाँ। तो जीआई को इंडिया है वो पूरा रिटेल सेगमेंट में ही सेल करता है तो वो कहाँ पे आप बैलेंस शीट में किस हेड के अंदर आप उसको कर रहे हैं फिक्स एसेट्स में कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं सर प्लीज रिपीट सर समझे नहीं क्या बोल रहे हैं सर आप इसको बैलेंस शीट के अंदर कैपिटलाइज कर रहे होंगे सर कैपिटलाइज आप कैपिटलाइज कर रहे हैं ना सर वो तो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है हम हाँ। उसको प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में कर रहे हैं राइट क्या तो ये वाला जो आपका स्टैंडर्ड ओन है जिया इको का इसमें तो रिटेल सेगमेंट नहीं है ठीक सर जिया इको में नहीं आएगा ना जिया इको इंडिया में आएगा सर जीआई को इंडिया में आएगा तो अगर मैं स्टैंड लोन से आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नंबर देखता हूँ तो हाँ। करीबन तेरह करोड़ है यस सर यस सर और मैं कंसोलिडेटेड में देखता हूँ तो ये करीबन चौदह करोड़ है अजी सर तो क्या मैं ये अचीव करूंगी ये जो एक करोड़ का डिफरेंस है यही अभी तक कैपेक्स है या इसमें कुछ और भी है अच्छा तो अभी मैं ये मान के चलूंगा कि एक करोड़ आप कैपेक्स लगा रहे हैं बेसिकली सर अभी एक करोड़ है बाकी का पाइपलाइन में है सर और सर वो जो एक करोड़ का कैपेक्स है ना हाँ। वो लास्ट क्वार्टर का है ये क्वार्टर में और भी बड़ा हो अच्छा तो ये सारा आप कैपिटलाइज करेंगे इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे आप कैपिटेशन चार्ज करेंगे ना सर हाँ ठीक सेकेंड क्वेश्चन uh, जैसे आपका आपने बताया एग्रीकल्चर वेस्ट आपका की रॉ मटेरियल रहता है बायोफिल uh, बनाने के लिए तो इसमें कोई particular category of agriculture waste है या ये किसी भी टाइप का agriculture uh, waste sir any type of agriculture waste चल सकता है उसमें कंडीशन ऐसी है कि आपको 5 परसेंट से कम मॉइस्चर होना चाहिए और लेस देन उसका जो पोर्शन है वो लेस देन वन इंच होना चाहिए तो कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट है जो भी एरिया में हमारे एरिया में ये सब चीज मिल रहा है बाकी आप साउथ गुजरात में जाओ तो वहां पे आपको शुगर कैन बगास मिलेगा या फिर दूसरे स्टेट में जाओ लाइक साउथ इंडिया में जाओ तो वहां पे आपको कोकोनट uh, ट्री के जो भी वेस्ट मिलते हैं ट्री बार्क वगैरह सब तो any type of agriculture waste इसमें यूज हो सकता है तो सर uh, जैसे आ, uh, हम लोग पंजाब में दिल्ली में और इन सब में पॉल्यूशन की समस्या समझते हैं सर्दियां आती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरने लगता है तो या, कुछ प्लान है कि इस ये जो प्रॉब्लम आती है क्रॉप जलाने से इसको आप इन एरियाज में भी कैटर कर सकते हैं कुछ एक्सपेंशन का प्लान इस एरियाज में हो आपका या कुछ सोचा हो आपने सर अभी राइट नाउ हमारा जो प्लानिंग है ना फ्यूचर का उसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो हमारा ऐसा है कि एग्जिस्टिंग एक प्लान तो है ही हमारा दूसरा हम लोग का गांधीधाम में पाइपलाइन में है और नेक्स्ट ईयर में हम लोग तीसरा प्लान प्लानिंग कर रहे हैं साउथ गुजरात में अंकलेश्वर या भरूच के आसपास और वहां से हम लोग नेबर स्टेट है लाइक महाराष्ट्र एमपी और राजस्थान वहां पे भी हम लोग वहां पे बिजनेस करेंगे साउथ गुजरात वाला प्लांट रनिंग हो जाने के बाद में और कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू है पूरे पैन इंडिया में प्लांट इंस्टॉल करने का और जो भी पूरे पैन इंडिया में इंडस्ट्रीज है या रिटेल यूजर्स है वो सबके साथ में हम लोग बिजनेस करेंगे तो अभी आपके क्लाइंट्स जो हैं वो सारे गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड हैं वो भी गुजरात के बाहर नहीं है अभी सर गुजरात में जितने भी कस्टमर्स हैं ना वो उनकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि हम लोग गुजरात के बाहर जा ही नहीं सकते पर फिर भी एक आध कस्टमर हमारे ऐसे है कि जो हम लोग गुजरात के बाहर में बाहर दे रहे हैं पर मैं आपको जैसे बताया कि गुजरात में इतनी डिमांड है कि हम लोग को अभी बाहर जाने का तो कोई मौका ही नहीं मिला है तो ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के कारण आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आप बता रहे हैं लॉजिस्टिक्स का कोई दिक्कत नहीं है लॉजिस्टिक का ऐसा थोड़ा बहुत इश्यू रहता है इसकी वजह से हम लोग गुजरात के एवरी कॉर्नर में एक एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं कि एक अपना ये सौराष्ट्र में हो गया एक गांधीधाम कच्छ में हो जाएगा और तीसरा प्लांट हम लोग नेक्स्ट ईयर में प्लानिंग कर रहे हैं वो आ जाएगा साउथ गुजरात में तो ये तीनों प्लांट रनिंग हो जाने के बाद में सिचुएशन ऐसी होगी कि गुजरात के हर एक कॉर्नर में अपना एक एक प्लांट होगा और साउथ गुजरात वाला प्लांट है वहां से अपने को महाराष्ट्र और एमपी में भी अगर देना होगा तो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट वहां से अपने को शूटेबल होगा और गांधीधाम वाला प्लांट है वहां से हम लोग राजस्थान में भी सप्लाई कर पाएंगे लॉजिस्टिक का इश्यू रहता है पर इतना बड़ा भी इश्यू नहीं है कि हम लोग थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में काम ना कर पाए पर इश्यू तो रहता है थोड़ा Thank you. I would request Mr. Agarwal to come back in the queue for follow-up The next question is from the line of Himang Arora from HSBC. Please go ahead. Go ahead. Yeah, hello. Good evening. Good evening, sir. हाँ जी congrats for your massive result so मेरा पहला क्वेश्चन सो मेरा पहला क्वेश्चन आपके रॉ मटेरियल पार्ट पे रहेगा So रॉ material में जैसा आपने बोला था कि you procure raw material from your fifty two gram panchayat जो आपने जिनके साथ टाइप कर रखा है all over your Gujarat area तो मेरे को उसमें ये पूछना है कि आपका उनके साथ कोई फॉर्मल एग्रीमेंट रहता है या it is only relating related to मतलब ये इनफॉर्मल रहता है बिकॉज अगर मान लो for example just for sake of example के कल कोई और कल कोई और आपके कंपटीशन में आता है and he is giving more money than you for procuring that raw material so उसको क्या कहते हैं आप कैसे टैकल करोगे आपका कोई ऐसी पॉलिसी है एग्रीमेंट है जिसमें कोई आप क्या कहते हैं उनसे क्लेम कर सकते हो कि अगर इन्होंने इतनी सप्लाई नहीं दी हमें प्रोक्योर नहीं करने दिया रॉ मटेरियल तो हमें इतना पैसा वापस मिल जाएगा या कुछ इस टाइप से जी सर मैं आपको बता दूं पहले तो एग्रीमेंट जो हुए हैं ना हमारे वो सभी ग्राम पंचायत के साथ में हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है उनके थ्रू हुए हैं और ये सब एक्टिविटीज की वजह से हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रैक्टर भी दिया है ऐसा नहीं है कि लोकल अथॉरिटी के साथ में हम लोग ने एग्रीमेंट किए ये एग्रीमेंट हुए हैं लोकल अथॉरिटी के साथ में पर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हुए हैं और दूसरा थ्रॉड जो आपने बताया कि कल को जाके अपने एरिया में कोई भी अगर कॉम्पिटिटर आ जाए तो रॉ मटेरियल का इश्यूज कैसा रहेगा तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेबिलिटी इतनी बड़ी है लार्ज क्वांटिटी में कि कोई भी कॉम्पिटिटर आएगा तो वो अपना पास का दूसरा या कोई तीसरा पॉकेट चूज करेगा वो ऐसा नहीं करेगा कि जहाँ पे ऑलरेडी एक एक कॉम्पिटिटर uh, सेटअप है और काफी दूसरी जगह ऐसी पड़ी है कि जहां पे भी रॉ मटेरियल के सोर्स है तो हम लोग को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपना जो पूरा जहां से हम लोग अभी कर रहे हैं वहां पे कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाए और दूसरी बात ऐसी है कि अगर दूसरा कॉम्पिटिटर आ भी जाए तो भी राइट नाउ सीनारियो ऐसा है कि हम लोग जो 25 टू 30 स्क्वायर किलोमीटर के रिड्यूस में से जो भी रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं तो वो वहां पे जनरेट जितना भी रॉ मटेरियल हो रहा है उसका 20 परसेंट ही है तो रॉ मटेरियल की कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है कि अगर कोई कॉम्पिटेटर आ जाए तो हम लोग को रॉ मटेरियल की आ, कोई इश्यू हो जाए तो रॉ मटेरियल के सोर्सेज तो बहुत ही बड़े अभी हम लोग 20 से या 25 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में से अभी ये प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं पर सेम रॉ मटेरियल पूरे 200 से 250 स्क्वायर किलोमीटर में अवेलेबल है तो ये इश्यू नहीं है कि हम लोग को रॉ मटेरियल का आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स आएगा ओके एंड ये जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं ये कितने कितने इयर्स के होते हैं आपके तो मतलब उसमें कोई वैलिडिटी नहीं है वो एक्चुअली ऐसे एग्रीमेंट है कि वहाँ पे जो गौचर लैंड है वहाँ पे ये जो वाइल्ड ट्रीज वगैरह सब अपने आप निकल आते हैं तो वो लैंड का पूरा इंटेंस ऐसा होता है कि जब समर में क्राइसिस हो जाए तो कैटल को फीड के लिए वहाँ पे जो भी ग्रास उगा होगा वो काम आ पाए पर ये वाइल्ड ट्री की वजह से ये सब चीज नहीं हो पाता है तो पंचायत को क्या करना पड़ता था ईयर बाय ईयर उनको क्लीनअप करवाने के लिए खर्चा करना पड़ता था जो अभी हम लोग हमारे खर्चे से करते हैं उसमें पंचायत को कुछ देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है तो ये एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है जब तक अपन चाहे तब तक ये सब चीज कर सकते हैं और जब भी अपन ना और उसमें कोई ऐसा प्रेशराइज भी नहीं है कि अपने को फर्जियत ये लेना ही है अपने को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना अपन ले सकते हैं ओके एंड मेरा सेकेंड क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जितने भी अभी ये पैलेट्स एंड बॉयलर्स वगैरह जो आप लगा रहे हैं तो so हम्म। इसमें कोई आज तक कोई कैंसिलेशन का भी केस आया है क्या कि किसी ने मतलब लगवाया हो and they didn't find it suitable या उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अभी मना कर दिया है आपसे या कुछ रिजेक्शन टाइप कहते हैं क्योंकि काफी सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि जिन लोग को काफी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे अपना एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर अगर उनको प्रोवाइड नहीं हो रहा होता है तो वो लोग वहां से अपने को कैंसलेशन भी मिला है और स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि हमारे पास इतना आर नहीं था तो उसकी वजह से कोई एक इंडस्ट्रीज ऐसी थी कि वहां पे हमारा मॉडल सुटेबल नहीं रहा पर उसके ऊपर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं आर कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग को वेरी सुन वहाँ पे भी हम लोग ऐसा मॉडल बना के दे देंगे कि वहां पे उनको सुटेबल रहे तो इसमें क्या होता है कि रिटेल यूजर्स जो होते हैं उसमें वेरियस टाइप ऑफ की एप्लीकेशन रहती है तो थोड़ा बहुत कस्टमाइज हम लोग को बनवाना पड़ता है industries wise okay okay and मेरा हमारा कॉन्स्टेंट चालू रहता है okay got your point and मेरा लास्ट क्वेश्चन इसमें एक ये रहेगा कि जो आपका पेबल डेज है payable basically the trade payables, hain they have uh, reduced from 13 crores to 8 crores in this quarter. matlab as i as at end of 30th September, they are standing at 8 crores. So मेरे को ये पूछना है that whether uh, you are not able to maintain this cycle or what? matlab aap uh, itne jaldi trade payables pay ho rahe hain so हैं abhi इसमें अभी trade payables ka ye kya aage aur kam honge ya what? ये अभी सर आगे और कम हो जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे साइकिल फरती जाएगी ये पूरा का पूरा पेएबल भी हमारा कम होता जाएगा और अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रिटेल पर कर रहे हैं तो रिटेल में ये रेशियो बहुत ही कम होता है ओके okay. देखा क्या बहुत कम हो जाएगा सर ट्रेड पेबल डेटर्स का जो रेशियो है वो भी कम होगा और पेएबल का जो रेशियो रेशियो है वो भी कम भी बहुत कम होगा ओके ओके ओके ठीक है thank you very much thank you thank you The next question is from the line of Naveen Tikumani, an individual investor. Please go ahead. Hello? Hello. Sir, how do you mitigate the credit risk? Risk? Credit risk. Credit risk management. How you mitigate it? Like... Uh, uh, please, uh, uh, yeah, I'm seeing the aging analysis of the trade receivables. I think uh, it's uh, all falling more than up to three months very high and three to six months also, it's, uh, the portion is very high. How do you mitigate that? Vivek ji आप uh, बता सकेंगे क्या सर हाँ, वो सर वो पूछ रहे हैं कि आप वो पूछ रहे हैं कि अपने डेटा डेज जो हाई है हाँ। वो अपन कैसे मैनेज करेंगे सर मैं आपको ये बता दूं डेटर्स इनके जो है हाई वो एक बिजनेस uh, का नेचर है और राइट uh, नाउ तो ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग ने पास्ट में तो uh, कुछ सरकमटेंसीज थी जो जीएसटी एप्लीकेबल वगैरह सब हुआ था तो वो टाइम पे हमारे जो बहुत uh, बड़े कस्टमर बेस था एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहां पे एक दो महीने की स्ट्राइक चली थी उसकी वजह से डेटर्स तो काफी हमारे वो टाइम पे हाई रहे थे पर वो टाइम में भी हम लोग ने इजीली सब ऑपरेट कर लिया था और अभी सीनारियो ऐसा है कि हम लोग डे बाय डे इसको डिस्क्रीज करते जा रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आगे जाके हम लोग को उल्टा इससे अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे जो पास्ट में था उसके कंपैरिजन में तो आगे का जो टफ पीरियड था वो भी हम लोग ने टेकल कर लिया था तो अभी हम लोग को ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि आगे आने वाले पीरियड में भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम आएगा और अभी जो नया फैसिलिटीज चालू हो रहा है तो उसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन रिटेल के ऊपर ज्यादा कर रहे हैं तो रिटेल में 30 टू 45 डेज का ही क्रेडिट पीरियड रहता है तो वहां पे हम लोग को काफी इम्प्रूवमेंट मिलेगा ये रिसीवेबल साइकिल्स में Yeah, Mahesh Sims Private Limited is there now, sir. One company is accounting for more than 10% uh, of our revenue and uh, they are not yet paid, right? या yeah, सर आपके पास जो फिगर्स है वो सितंबर के हैं और ये जो अभी जो क्वार्टर चल रहा है उसमें उनके पेमेंट काफी आने शुरू हो गए थे एक्चुअली वो कंपनी में कुछ पार्टनरशिप डिस्ट्रॉय हुआ था और ऐसे कुछ रीजन थे और दूसरा रीजन ये भी था कि जो मैंने आपको जो पहले बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो जीएसटी की वजह से कुछ स्लो डाउन वगैरह सब आए थे तो ये दो रीजन की वजह से वहां पे पैसा थोड़ा लेट हुआ था पर एक क्वार्टर में उनके ओर से पेमेंट आने स्टार्ट भी हो जाए हो गए हैं और उनके मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ने हम लोग को बताया कि भाई हम आने वाले एक से डेढ़ महीने में आपका जितना भी रिसीवेबल्स है मई सिल्क मिल का वो पूरा हम लोग जीरो कर देंगे उसके बाद में हम लोग नए से वहां पे बिजनेस करेंगे तो वैसे हम लोग को वहां से बात मिली है और पेमेंट भी आने स्टार्ट हो गए हैं और दूसरी बात ऐसी है कि मई सिल्क मिल है उसको और एज ए पर्सनली बेसिस पे भी मैं काफी टाइम से पहचानता हूँ जानता हूँ तो वहां पे अपने को पैसा डूबने का वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है पर उनके वहाँ कुछ इश्यूज थे इसकी वजह से ये सब लेट हुआ था tell me about our companies our companies not paying full income tax rate exemptions from the income tax? Because of sir, हमारे यहाँ section 80 JJA के हिसाब से हमें पांच साल का income tax exemption था तो ये पांचों साल हम लोगों ने मेट भरा हुआ है तो हमारा मेट अभी डिपार्टमेंट में क्रेडिट है तो हर एनुअल रिटर्न में उसका कैलकुलेशन किया जाता है कि हमें कितना नेट रिवर्स मिलेगा तो उसके हिसाब से हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं इसलिए हम लोग इनकम टैक्स एडवांस नहीं भरते कि ईयर एंड में पता चलता है कि इस ईयर में हमें कैलकुलेशन करने के बाद कितना मेट क्रेडिट मिलेगा तो स्टिल टुडे हमारा साढ़े तीन करोड़ का मेट अभी भी डिपार्टमेंट में क्रेडिट पड़ा हुआ है Thank you. I would request Naveen to come back in the queue for follow-up question. The next question is from the line of Pritesh Vora from Insido. Please go ahead. Uh, sir, uh, how do you uh, how do you how do you assure that the fuel supply is sufficient within your plant distance? Is there any geographical location that beyond 10 kilometers or something like that it will be logistically not possible to bring the uh, residue, uh, agricultural residue? Sir, मैं आपको थोड़ा बहुत मैं समझ लू आपका क्वेश्चन कि आप शायद ऐसा पूछने जा रहे हैं कि हम लोग 10 या 15 किलोमीटर के रेडियस में से क्यों मटेरियल परचेज कर रहे हैं राइट Yeah, I mean, what is your minimum boundary beyond which it is logistically is not possible to collect it? ऐसा नहीं है सर आप समझो अभी हमारे पास जो अवेबिलिटी है उसके हिसाब से हम लोग 20-25 किलोमीटर के रेडियस में से जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो वहां पे फुलफिल हो जाती है अगर हम लोग 50 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में से भी हम लोग प्रोक्योरमेंट करें तो अभी हमारी कॉस्ट तो सेम ही आएगी क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस है रॉ मटेरियल को प्रोक्योरमेंट करने के लिए उसमें लॉजिस्टिक को छोड़ के सभी सेम है और लॉजिस्टिक के कॉस्ट में भी ऐसा है कि आप 50 किलोमीटर दूर से लाओ या 100 मीटर बाजू में से लाओ उसमें आपको बेस प्राइस पे करना होता है सप्लायर को ट्रा, ट्रांसपोर्टर्स को तो अपने को 50 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में से भी अगर प्रोक्योरमेंट करना होगा तो अपने को सेम कॉस्ट में ही मिलेगा पर अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड एरिया में से ही पूरी हो जाती है तो हम लोग कहीं दूर और नहीं हाँ तो ये कितना आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है जो आप लेते हैं फॉरेस्ट से या फिर जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है do you have to pay to anybody to collect this residue और what is the arrangement I not understood actually हमारा एक फिक्स रेट रहता है हम लोग कॉट करते हैं कि हम्म। ये रेट से हम लोग परचेस करेंगे तो राइट नाउ हमारा जो परचेसिंग एग्रीकल्चर वेस्ट जो है और हम लोग three thousand five hundred rupees per ton के हिसाब से परचेज कर रहे हैं कलेक्शन एजेंट के पास से जो सप्लायर्स है हमारे और फॉरेस्ट वेस्ट है वो हम लोग four thousand rupees per ton के हिसाब से हम लोग परचेज कर रहे हैं तो ये ये जो जहां से परचेज कर रहे हैं हुआ दिस पीपल वो हमारे कलेक्शन एजेंट है वो उसका काम ऐसा होता है कि वो लोग उनके पास मैन पावर रहता है और वो लोग फार्मर के पास से आ, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे जो पूरा स्प्रेड पड़ा है उसको वो लोग कलेक्ट हम्म। करेंगे उसके ऊपर जो भी प्रोसेस करनी है कटिंग चिपिंग वगैरह सबकी वो प्रोसेस हम्म। करेंगे संट्राई करेंगे और उसके बाद में ट्रक में लोड करके ट्रांजिट करके हम लोग को यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो वो पूरी प्रोसेस हम लोग ने उसको स्टार्टिंग के टाइम में हम लोग ने उनको सेट करवाई है कि आप लोग को ऐसे ऐसे एक्टिविटी करके जो भी रॉ मटेरियल जनरेट होता है आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो हम लोग को सप्लाई करना है और उसके सामने हम लोग आपको एक फिक्स अमाउंट से आपके पास से हम लोग परचेज कर लेंगे and what are their cost to collection agent coming uh, thousand five hundred 3,500 में हम लोग परचेस कर रहे हैं कलेक्शन एजेंट के पास में पास से हम्म। तो उसमें वो लेबर कॉस्ट डीजल का जो भी खर्चा लगता है ट्रांजिट कॉस्ट लगता है फार्मर्स को देना है वो सब मिला के उसको तीन सौ से चार सौ रूपया पर टन उसको मिलता है अच्छा अच्छा सर अच्छा। हाँ। तो हम लोग ने क्या है सर ये जो एक्टिविटीज जो है ना वो इन लोग को करनी है कलेक्शन एजेंट को अपने लेबर लगा के फार्मर के पास जाना है फिर उसके ऊपर जो भी वहां पे फील्ड में प्रोसेस करना है चिपिंग वगैरह वो एकदम इनिशियल स्टेज पे हम लोग थे वो टाइम पे हम लोग ने खुद किए हुए थे तो हम लोग पूरी प्रोसेस से नॉन है कि भाई कौन सी चीज में कैसा कैसा खर्चा लगता है तो हम लोग रेट ही ऐसा कॉट करते हैं कि सप्लायर्स को उसमें चार सौ रूपये पर टन के हिसाब से मिले जिससे वो कंटिन्यूस अपने को सप्लाइंग वहां से मिलता रहे you also mention about the raising of the fund अरे so what is the raising of fund fund raising from F I I right you plan to raise some money from institution right when is likely to be that अभी हमारा सर मैनेजमेंट के साथ बातचीत चल रहा है अभी मैनेजमेंट सोच रहा है या तो हम लोग बैंक से डेट ले लेंगे या फिर इक्विटी मार्केट से लेंगे वो भी हम लोगों ने तय नहीं किया है कि किस तरीके से लेंगे मोटा मोटी बैंक से अगर मिल जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओके और it's wish all the best thank you thank you very much thank you The next question is from the line of Pratik Porter from Akela Investments. Please go ahead. Sir हमारा एक बर्नर का कॉस्ट कितना होता होगा सर उसमें अलग अलग साइज रहती है पर बेस मॉडल है वो ढाई लाख ढाई से तीन लाख के आसपास का रहता है जो 1.5 लाख किलो कैलोरी जो साइज है उनकी वो ढाई से तीन लाख रुपए का पर बर्नर का कॉस्ट रहता है उसके बाद में अगर यूजर्स को रिक्वायरमेंट है अलग साइज की तो हिसाब से ढाई लाख रुपए से लेके सात आठ लाख रुपए तक की कॉस्ट का बर्नर आता है और सर हम अगर हमारा ग्रॉस ब्लॉक जैसे हमने हमारा अगर capital property plant and equipment देखें एक करोड़ रुपए is the total burner cost right तो उसको अगर मैं ढाई लाख से या से ढाई तीन लाख से डिवाइड करूँ तो ब्रॉडली चालीस बर्नर ही आएंगे सर तो हम बोल रहे हैं कि हमने मतलब जस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड हम बोल रहे हैं कि हमने डेढ़ सौ बर्नर इंस्टॉल किए हैं नहीं स्टोर्स और बर्नर्स है और बाकी जो हमारे है उसमें हम लोग को पेमेंट अभी देना बाकी है तो ये वेंडर को तो अभी हम लोग ने ये जो डेढ़ सौ के आसपास बताया उसमें ओनली फॉर बर्नर नहीं है स्टोव भी है और बर्नर्स भी है तो वो दोनों को मिला के और दूसरा आपको वो जो आपने जो आपके पास नंबर से है उसमें इतना दिख रहा है ये क्वार्टर में अभी और भी बर्नर्स का पेमेंट हुआ है मैं आपको 150 स्टोव uh, और बर्नर की बात कर रहा हूँ वो एज ऑन डेट की है तो सर एज ऑन सेप्टेम्बर हमारे कितने स्टोव एंड बर्नर होंगे कुछ ब्रॉड आइडिया मतलब चालीस पचास ही होंगे क्या ऐसे हुआ है कि हमने लास्ट दिन में पचास का किया है सर बाकी हमारे पचहत्तर से अस्सी तक वहाँ पर लग गए थे बर्नर जो बाकी का पेमेंट करना बाकी था वो हमारे डेस्क में लिखा रहा है सर अच्छा तो वो अब आगे जाके हिट होगा बेसिकली आगे जाके आप कैपिटलाइज करोगे जब आप पेमेंट करोगे करते हैं सर पहले बर्नर उसको लगाते हैं आठ दस दिन तक उसको ट्रायल देते हैं दस दिन में उसको सेटिस्फेक्शन हुआ तो उसके साथ एग्रीमेंट होता है वो हमें डिपॉजिट देते हैं वो डिपॉजिट आने के बाद वो का हम लोग पेमेंट करते हैं वरना वो बंदर कहीं और लग जाता है तो इसके हिसाब से बीस पच्चीस तकरीबन तीस पंद्रह का पेमेंट करना बाकी है तो जो इस महीने में एंड हो जाएगा हमारे वेंडर के साथ में भी ऐसे ही डील हुई है कि जैसे जहाँ पे कस्टमर्स के ओर से एक बार डन हो जाए उसके बाद में हम लोग वेंडर को पेमेंट करते तब तक उनको डेमोस्ट्रेशन उनको देना है सेटअप करवाना है सर एक क्वेश्चन ऑन टैक्स रेट आप बोल रहे हैं कि आई मीन जैसे आपने बोला आप एटी जे के अंदर फाइव इयर्स बेनिफिट लेते हैं तो वो करंट तो वो गांधी धाम में आपको पूरा पांच साल का बेनिफिट मिलेगा राइट सर मतलब पांच साल तक no tax on that capacity yes sir yes sir हम लोग गांधी धाम में इसीलिए तो सर हम लोगों ने अलग एंटिटी किया है कि वहां पर भी हमें सेक्शन एटी का पूरा बेनिफिट मिलेगा पांच साल तक बट जो अभी एग्जिस्टिंग है उस पर आप टैक्स भरना चालू कर देंगे बंस मैट क्रेडिट खत्म हो जाता है आपका तो सर टैक्स भरना शुरू हो जाएगा सर टैक्स भरना वैसे भी शुरू हो गया है हमें डिफरेंस भरना है नेट का और अपना इनकम टैक्स का जो भी होता है वो डिफरेंस भरना है और बाकी की चीज में नेट से क्रेडिट लेनी है तो स्टिल ये साल भी तीन करोड़ रुपए टैक्स भरा है हम लोगों ने समझ गया बट ब्रॉडली सर जैसे आपका पीबीटी पांच सवा पांच करोड़ है स्टैंड लोन में उसमें हम्म। मैं मानू और उसमें अभी तक गांधी धाम आया नहीं है तो उस पर आप मतलब इवेंचुअली से एक डेढ़ साल बाद तीस परसेंट टैक्स भर देंगे yes sir hundred percent definitely okay फिर गांधीधाम से जो प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स नहीं आएगा उसके ऊपर सिर्फ नेट आएगा सर टैक्स नहीं भी आएगा सही पर नेट आएगा नेट आएगा तो रिजर्व तो रहेगा और सर आपका सिंस आपका turnover is less than two fifty crore your tax rate will be twenty five percent right not thirty percent sorry आपका turnover less than two fifty crore है ना उसमें टैक्स रेट कम होता है राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि सर टैक्स रेट कम होता है उसमें ट्वेंटी थ्री परसेंट होता है अगर टू फिफ्टी करोड़ से हम लोग ज्यादा हो गए तो फिर उसके ऊपर thirty crore thirty three percent होगा three point thirty percent plus three percent correct correct okay okay okay ठीक है just this sir thank you so much Thank you very much. Thank you. The next question is from the line of Ashish Agarwal from Agarwal Shivastav and Company. Please go ahead. Sir, अभी आप बोनस इशू आप ला रहे हैं आपकी प्रेजेंटेशन में मेंशन था तो आपको लोग कोशिश कर रहे हैं अभी बार इश्यू लाने की इसके लिए पेपर्स वगैरह सब बना रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं कि हम लोग इश्यू लेके आएंगे या नहीं आएंगे वो क्योंकि हमारी दोनों ओर से बातचीत चल रही है बैंक में भी बात चल रही है और इश्यू के लिए भी हम लोग रेडी है लेकिन कंफर्म कुछ नहीं किया है मैनेजमेंट ने नहीं नहीं सर मेरा सवाल बोनस पे था हाँ। जैसे आप बोनस इश्यू लेके आ रहे हैं बोनस दे रहे हैं हम लोग आप बोनस देंगे तो सर आपको अच्छा। लगता है कि बोनस बेसिकली मार्केट बहुत अच्छा परसीव भी करेगा बोनस तो खाली एक अकाउंटिंग एंट्री है जो रिजर्व एंड से शिफ्ट होकर शेयर कैपिटल में चला जाएगा तो आप हाँ, क्वेश्चन सही है पर uh, हम लोग ने जब कंपनी uh, का आईपीओ लेके आए थे तीन साल पहले तब कभी uh, कोई हमारे जो शेयर होल्डर्स थे वो टाइम के इन्वेस्टर्स थे उनके साथ में कुछ कमिटमेंट था कि हम लोग को आगे जाके ये सब बोनस वगैरह हम लोग देंगे और इसकी वजह से अभी काफी सारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उसके पास से ये सब आता था कि भाई आपकी रिजर्व्स और सरप्लस इतने हैं तो आप हमें थोड़ा बोनस वगैरह सब चीज दो इसकी वजह से और हम लोग ने कमिटमेंट भी दिए थे पहले इसकी वजह से हम लोग ने बोनस प्लान किया है बाकी हम लोग को पता है कि एक एक अकाउंटिंग एंट्री है उसमें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है कि भाई अपने को कुछ बेनिफिट हो जाएगा वगैरह सब चीज नहीं है तो ये एक कमिटमेंट था हमारा इसके लिए ये सब चीज हम लोग कर रहे हैं बट इससे मार्केट में नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा ट्रेडिंग होगी तो ये थोड़ा सा नेगेटिव नहीं जाएगा रेदर अगर आप उन्हें बोलते हैं जैसे थोड़ा टाइम वेस्ट करने के लिए एंड देन जब कैश फ्लो आना शुरू हो तब डिविडेंड दे दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा because dividend is always better in comparison to bonus क्योंकि बोनस आज मैं अगर दे देता हूँ तो मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंज्यूम हो जाएंगे फिर मेरे पास डिविडेंड देने के लिए भी उतना ही कम प्रॉफिट होगा सर मैं आपको एक चीज दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको मैं बता दूं डिविडेंड का आप जो बात कर रहे हैं डिविडेंड भी कंपनी का प्लानिंग है पर वो राइट नाउ नहीं है क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी डेट है ठीक है अभी कंपनी के ऊपर डेट है और उसके जो कैश फ्लोज है उसमें से पैसा निकाल के अगर हम लोग डिविडेंड देंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो ग्रोथ अभी चल रहा है उसमें एक रुकावट आ सकती है पे हम लोग अभी प्लान नहीं करेंगे पर जैसे हमारे मैंने जैसे आपको बताया कि रिटेल मार्केट के अंदर हमारे प्रॉफिट मार्जिन काफी डबल है कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेगमेंट तो हमारा टारगेट ऐसा है कि आने वाले दो साल में हम लोग जैसे जैसे ये रिटेल मार्केट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो 50 परसेंट से ज्यादा हम लोग टारगेट कर रहे हैं आने वाले दो साल में कि हम लोग रिटेल सेगमेंट में सेल करें और जब हम लोग वो अचीव कर लेंगे तो हमारा कैश फ्लो भी जो है वो एकदम पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे को जो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है राइट नाउ के पीरियड में अभी के पीरियड में क्योंकि रिसीवेबल्स पीरियड काफी लंबा है इसीलिए तो उसको अगर हम लोग 50 परसेंट तक रिटेल सेगमेंट में ले जाएंगे तो वहां पे भी हम लोग की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी उसके बाद में हम लोग जो भी डेट लिया है मार्केट में से बैंक से तो वो भी हम लोग पे कर देंगे उसके बाद में हम लोग सोचेंगे डेफिनेटली कि हम लोग तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देंगे पर अभी के टाइम में अगर हम लोग डिविडेंड देंगे तो कंपनी का जो भी ग्रोथ है वो काफी मेरा सवाल कंप्लीटली मैं आपके साथ अग्री करता हूँ कि अभी बोनस नहीं डिविडेंड नहीं आना चाहिए because you required fund for your working capital operation and everything So uh, it was just a request that if you can hold, uh, I mean, uh, if you can hold on for some time or uh, जब आपके पास वो कैश फ्लो आने शुरू हो तब आप डिविडेंड डे rather than giving bonus right away तो just sir sir sir second question planning to list on NSC any time soon sorry I mean you are planning to list on NSC NSC के लिस्ट करने का कोई प्लान है एनएससी के ऊपर हम लोग जो हमारी सब्सिडियरी है उसको लिस्ट कराने की पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं कोई प्लानिंग ऐसा नहीं है कि हम लोग को करना ही है पर हमारे को जो जीआई को इंडिया जो हमारी सब्सिडियरी है वहाँ पे फ्यूचर में जो भी कैपेक्स लगने वाला है जो स्टोव्स और बर्नर्स और बॉयलर्स के रूप में तो उसके कैपेक्स के बारे में हम लोग ये सोच रहे कि या तो फिर डीमर्जर के जाएंगे सॉरी सर भावेश सर क्या वो पूछ रहे हैं जिया इको प्रोडक्ट्स को एनएससी में लिस्टिंग का नहीं नहीं सर राइट ना हमारा कोई ऐसा प्लानिंग है नहीं आगे के टाइम में हम लोग सोच सकते हैं पर राइट ना हमारा कोई प्लानिंग नहीं है ऐसा अच्छा क्योंकि सर बीएससी के थोड़े सर्किट्स के वो होते हैं I mean just a thought I mean I am not saying कि कुछ ऐसा होगा बट जस्ट अ थॉट कि वो उसके क्वार्टरली एंड सर्किट वगैरह होते हैं तो इसीलिए आई हाँ। थॉट कि NSC would be would have given you better platform and better business बात सही है पर कंपनी की जो साइज है वो हिसाब से अगर ये टाइम पे अगर दो दो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड करवाना मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा होगा ये पर जैसे ही कंपनी का साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली हम लोग प्लानिंग करेंगे एनएससी के ऊपर भी लिस्ट करवाने का thank you sir okay thank you very much Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question. I now hand the conference over to Mr. Vivek Jain for closing comments. Thank you. On behalf of GI Eco Products Limited, we conclude this conference call. If you need any further information, feel free to get in touch with us. Thank you all for joining us. You may now disconnect your lines.